रहेगा उनके प्रथम प्रकाश का बत्तीसवा मंत्र कहा जाएगा और उनकी व्याख्या भी की जाएगी ओ देवा देवा के मदाधिष्टात्मिका देवा इंद्रिय देवता विद्वान सूर्यादि विद्यादि न मर्ता साधारण मनुष्य आपस जन आप प्राण वायु समुद्र इत्यादि सब अंत पार कभी नहीं पा सकते किंतु प्रविश्वा प्रकृष्टता से इनमें व्यापक के अतिरिक्त इनसे विलक्षण भिन्न ही परिपूर्ण हो रहा है तो मनुष्य मरुस्वान अत्यंत बलवान इंद्र परमात्मा स्वच्छता शत्रुओं के बल का भेदक बल से पृथ्वी को दिवस स्वर्ग को धारण करता है तो इंद्र परमात्मा सूटी हमारी रक्षा के लिए तत्पर पदार्थ है के शक्तिशाली हैं मन बहुत बल है ये परिज्ञात होता है दूर तक भी कांपती है हजारों लोग मर जाते हैं वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप की घटना कभी कभी बहुत दूर होती है अर्थात 20 किलोमीटर नीचे जाके वो घटना होती है घर उथल पुथल हो जाती है कितने दूर तो भूमि में होती है घटना भूकंप जिस समय पहाड़ों पर गंगोत्री के इस और भाग में उत्तरकाशी में विशेष रूप से भूकंप आया था उस समय हम रुड़की में दो बजे के आसपास की घटना है और वहां के धर्म दीवार ऐसे खटखट खटखट खटखट खटखट ऐसे होने लगा फिर दिल्ली वाले ने सुनाया कि यहां भी अब्दुल जी दिल्ली में भी आया कहां पर दुर्घटना घटती है कितनी लंबी जोड़ी भूमि कांपती है और कहां तक वो शक्ति कितनी होगी में जाओ तो समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है हजार किलोमीटर जब अंदर चले जाते हैं समुद्र में तब तो ऐसा प्रतीत होता है संसार को समुद्र के सिवाय कुछ भी नहीं और जो तूफान आता है भयंकर वो इतना बड़ा जहाज जिसमें हजारों लोग बैठते हैं पत्ते की तरफ पता नहीं कहां जाता आगे बढ़ते जाइए सूर्य को बताया जाता है कि भूमि से भी तेरह लाख कितने इतना बड़ा भूमि से अब जानना यह है कि सूर्य चंद्र भूमि इनमें कितनी शक्ति है कितना सामर्थ्य है इसको भौतिक वैज्ञानिक लोग मानते हैं पर इनका बल शक्ति कि ईश्वर के सामने कुछ नहीं है इसको भौतिक वजह नहीं मानते मंत्र मेरी बात कही जिस भूमि सूर्य चंद्र आदि की शक्ति को व्यक्ति इतनी मानता है और वो इतना प्रभावित है इनसे ईश्वर की शक्ति को कुछ नहीं मानता उसे प्रभावित नहीं कोई वस्तु ने टकराती हो न दिखाई देती हो न रूप हो न रंग हो न स्पर्श हो न गंध हो और वो शक्तिशाली हो ये कैसे जचेगा दिमाग जचेगी हम्म? क्या बात बड़ी कठिन बात है अच्छा कई बार तो इसके समझाने को दान भी देने पड़े अच्छा देखो आप बल है या नहीं कैसे पता चले यहाँ जो करते हैं ये शरीर जो है ये तो शक्तिशाली दिखता है आत्मा में बल भी होगा ऐसा आपको जो प्रतीत हो रहा है वो शरीर से हो रहा है शरीर में बल है उसको आप आत्मा का बल मान बैठे शरीर में जो शक्ति है उसको आप आत्मा का बल मान गए अच्छा आत्मा जो शरीर से निकलता देखा कभी तो दौड़ता हुआ आत्मा तो वजह से सकती है ना नहीं कभी जैसे मरने के पीछे जैसे अर्जुन भाई जी वहां से गाड़ी लेके आ जाते हैं जाता देखा किसी ने नहीं देखा और घसीटता भी नहीं देखते कोई वे जीव आत्मा अपनी मतलब हाँ उठाई नहीं ले जा रहे हैं बीच का तो है नहीं फिर घर से ले जा रहा है ऐसा देखा हो कोई जनता वो अनुमान जी ये मर गया था इसी को चीजें रह गई सुख तो वो ले जा रहा है दिखता नहीं हो और को घीच रहे आप देखिए आप आकाशवाणी टेलीविजन में ऐसे करते फिर वो रुक जाता है ऐसे करते कुछ जाता है ऐसे भी दिखाई नहीं देता इसके बल को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है कि भाई देखो ये हाथ है इस हाथ को उठाने में शरीर की शक्ति काम देती है या जीव की या क्या काम ये देखो ऐसे हाथ में तो किसने उठाया ये तो इसे क्या सिद्ध हो रहा है कि जीव में बन है पता चला जैसे जीव का आकार प्रकार कुछ भी दिखाई नहीं देता तो भी ये सिद्ध है कि जीव में बल ऐसे ही चेतन ईश्वर में भी आनंद बल है अर्थात चेतन में बल होता है हो सकता है इसमें संदेह नहीं करना चाहिए केवल ज्ञान मात्र से कार्य होता है क्या नहीं होता क्या होता है हम्म? ज्ञान के साथ बल है तो मंत्र में तुलना की गई है न तो इंद्रियों में वो बल है इतना न सूर्य आदि लोग लोकांतरों में बल है इतना और न विद्वानों में इतना बल है ईश्वर केंद्र इतना बल है हमें सूर्य में जो बल है वो भी ईश्वर का ही है सूर्य में बल अपना है और उसमें परमाणुओं को इकट्ठा करके उसमें गतिशीलता अपना काम करने की स्थिति में उसको पहुंचा दिया है लोहे को निकाला खानों से और कोई इंजन बना के खिड़ा कर दिया ये तो उस चिंती का वैज्ञानिक का काम है और अब वो इंजन को चला के जब दूर हट जाता है जो किसके बदले चलता है इंजन अपने बदले चलता है पर इंजन को बना के खड़ा किए बिना इंजन स्वयं बढ़ करके खड़ा नहीं होता ऐसे ही सूर्य जो प्रकाश दे रहा है या अपनी शक्ति है उसकी पर ईश्वर जब तक उसको बना नहीं दे दे तब तक वो परमाणु वो सूर्य का जो काम हो रहा है ये नहीं कर सकते इसलिए ऐसा नहीं माना जाता या ऐसा नहीं है कि सूर्य की जितनी शक्तियां हैं वो ईश्वर के अंदर निकल के आ रही ऐसा नहीं समझ में आया सूर्य का अपना बल है ईश्वर का अपना बल है और सूर्य का बल ईश्वर के बल के सामने कुछ नहीं यू कहना चाहिए सूर्य में जो बल आया वह ईश्वर की सहायता से उसके निर्माण से आया लोग कहते हैं दुष्टों का नाश करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि दुष्टों का नाश यदि आपकी पद्धति से करना मान लिया जाए तो इसमें क्या कारण है कि वो शरीर धारण करे दुष्टों का नाश करे थोड़ी देर के लिए मन दुष्टों का नाश करता उनकी मान्यता के अनुसार वो बिना शरीर धारण किए ही सारी दुनिया का नाश इंद्री निर्म कर सकता है तोड़ दे उसको तो उसको शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता पर इन करोड़ों लोगों के दिमाग में ये बात अब तक नहीं है यही रट्टा है परिणाम ये निकला इन लोगों का संबंध ईश्वर से पड़ गया जितना पौराणिक जगत है जितना इस्लाम जितना बाइबल इतना ये जितने मत मतांतर है ईश्वर का रट्टा लगाते चले आ रहे हैं तो इनका संबंध ईश्वर देखो वो ये मानते हैं कि शरीर धारण करके ही दुष्टों का नाश किया जाता है ऐसा समझते हैं दिमाग प्रथम तो ये बात है कि भगवान शरीरों को बुरे कर्म करने वाले जीवात्माओं को वो बुरा कर्म करने लगे हैं तो सीधा उनको कभी नहीं मारता दौड़ाना अच्छी तरह क्या कहा शरीरधारी व्यक्ति दुष्ट कर्म कर रहे हो डाके डाल रहे हो चोरी कर रहे हो उस चोरी के कारण चोरी आदि बुरे कर्मों से रोकने के लिए ईश्वर को कभी नहीं मारता और मानने लग जाए तो जीव कर्म करने में सब में परतंत्र हो जाएगा और ऐसे मारने लग जाए तो आगे बढ़ जाओ मैं कोई बुरा काम कर सकता <laughs> और अच्छा करेगा वो भी ईश्वर के अधिकार में होगी करेगा तो कर्मों का फल ईश्वर को ही भोगना ईश्वर केवल इतना संकेत देता है बुरा काम करने की जब योजना बनाता है जीवात्मा उसमें भय शंका लज्जा पैदा करता है बस ये क्षेत्र है ईश्वर का आप कोई बाग में घूमने जाते हो है जी और से निकलते हो चीकू लगे हुए क्या है जी देखे थे मनमाई हो कभी एकादश चीकू बोलने जब वो चीख को तोड़ने की योजना बनाओगे ना तो भय सिंह का नजा पूरा करेंगे अच्छे काम में दान देने की योजना बनाओगे तो आनंद उत्साह पैदा करेंगे इतने तक ईश्वर का सहयोग यही रूप ईश्वर जो है उसमें इतनी शक्ति है इतना बल है उसको हम ये कहते हैं अनंत हम नहीं जानते कितना बल है ईश्वर में कोई भी नहीं जानते और इसमें ज्ञान कितना है इसको भी कोई नहीं जानते और इसमें आनंद कितना है इसको भी और उसकी रचना कितनी है ईश्वर को भी नहीं मेरा तो यहां पर कई बार भ्रांति होती है भाई ईश्वर को कोई भी नहीं जान सकता ईश्वर को योगाभ्यासी तत्ववेता लोग जानती है उसका निषेध नहीं है निषेध इस बात का है ईश्वर में कितना आनंद है कितना बल है इतना उसको सारे को कोई भी परंतु ईश्वर को जानता है आप विचार कीजिए और सृष्टि की रचना को देखते चलिए कि संसार जब नहीं बना था तो क्या स्थिति थी हम सुसुप्ति जैसी अवस्था में पड़े थे कोई पता नहीं और प्रकृति सत्वर से सूक्ष्म कारण रूप पड़ा हुआ था कुछ भी बना हुआ नहीं था देखिए उस अवस्था में ईश्वर ने अपने बल से अपने ज्ञान से उन परमाणु अथवा प्रकृति को लेकर के छोटी से छोटी रचना को से लेकर सारी रचना कर डाली किसी की सहायता नहीं इतना बल है जब ये व्यक्ति के मन में ये बात आती है इतना बन है तो व्यक्ति प्रभावित होता है ईश्वर ईश्वर की ओर आकृष्ट होता है और जैसे जैसे ईश्वर के बल का चीजों के बल का प्रभाव समाप्त हो जाए व्यक्ति को लौकिक चीजें प्रभावित करती है जब लौकिक चीजों से प्रभावित होता है व्यक्ति तो ईश्वर से प्रभावित नहीं हो पाता प्रभाव ईश्वर का हटता चला जाता झोपड़ी वाला व्यक्ति सोचता था मेरे पास में कुठड़ी हो पक्की तो मुझमें गुजारा करूं और अच्छा रहेगा हे भगवान मुझे थोड़ी सी इतनी शक्ति दे दो कि कोठरी बन जाए ध्यान देना कालांतर में कुछ परिश्रम किया उसने कोठी कोठरी बना ली इधर रहने लग गया फिर उसके पश्चात कहने गया ये तो छोटी सी कोठरी है जब संबंधी आ जाते हैं तो बैठे तो है ही नहीं तुम्हें भाई एक और बन जाए तो अच्छा है एक और कालांतर में बन गई क्योंकि ये तो हो गया ठीक पर अकेला ध्यान करने के लिए ईश्वर का भक्ति करेंगे एक ऊपर और कमरा बन जाए तो वो भी बन गया अब बनते बनते बहुत कुछ बन गया फिर कारखाने खुल गए दो सौ तीन सौ काम करने लग गए और फिर वो जो भक्ति थी ना उसकी जो करता था उत्तर की गोल्डी में कहने का ज्ञानवान भाई अवकाश नहीं मिलता कारखाने में जाना पड़ता है इतने अब क्या हुआ जितनी धन संपत्ति आई उतना ईश्वर को आप ऐसे करते हो लड़ाओ तो या नहीं करते ऐसा होता नहीं होता आजकल जितने धनवान व्यक्ति हैं या तो आठ अंबर के रूप में धन आपकी स्थिति कर देते जैसे कि ये मंदिर बनाने वाले होते हैं या मस्जिद में जाने वाले बुद्धिपूर्वक काम करने वाले उन पर जैसे धन पटका जाता है वो वैदिक परंपरा को छोड़ देते आर्य लोगों में ये लोग आते हैं उनके घरों में जितना धन बढ़ता जाता है जितनी संपत्ति बढ़ जाती है वो हवन यज्ञ संध्या और ये समाज वो, वो करना ही खत्म कर दिया लोगों ने कारण ध्यान देना वो इतना प्रभावित होता है व्यक्ति धन संपत्ति से इन चीजों से ईश्वर को भूल जाता है ईश्वर के स्वरूप को जानने वाला बल को जानने वाला ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति विवेचन करता है कि कितनी शक्ति दुनिया की है कितनी विद्वानों की है कितनी इंद्रियों की है कितनी सूर्य चंद्रमा की है और कितनी ईश्वर की है जब तुलनात्मक अध्ययन होता है तो ये सारी शक्ति दुनिया की बिल्कुल झाखाई हो जाए है कुछ नहीं है ये कह रहे ये दिमाग बनता है वो देखता है कि जितनी शक्ति मनुष्य में है वैज्ञानिकों में है सूर्य चंद्रमा है भूमि में है जो भी कुछ है वो चेतन और जड़ों में जितना सामर्थ्य आता है ये ईश्वर की सहायता भी आता है स्वतः जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता स्वयं प्रकृति कुछ नहीं बन सकती क्या सकती है प्रकृति तो ये बातें जाननी है आप अब इस भोजन पर ग्राम